यमन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जो गायक फल सार रामचंद्र की जय हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय <coughs> दुआ संख्या अड़सठ 68 के बाद अड़सठ कुंभकर्ण मन दीथ विचारी अति छन माझ निशाचर धारी भाति क्रोध महाबल वीरा यो मृगनायक नाद गंभीरा मही धर ले उपारी डारही जामर बट भारी आवत देख शैल प्रभु भारे शरण का तिरज सम जा रे जन धनुतानि गुनायक रघुनायक यति कराल बहुसायक तनु माहु प्रभ सिंह सिर सर जाही जिम दामिनी घन माज समाही सोनित स्रवत स्रवति सोहतन कारे जनुक जल गिर गे रूपनारे विकल विलोक भालुक पिधाये साज मई निकट कपियाए महानाद कर गर जा कोटि कोटि गही मई पट कई गज राज सपथ करई दस शीस शीश सियावर चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बलो भाई सब संतन की जय अब स्मरण करें कि लंका में भगवान श्री राम जी का और कुंभकर्ण का युद्ध है भगवान राम ने धनुष चढ़ा करके बाण छोड़े तो एक लाख बाण निकले और तमाम निशाचरों पे लगे और निशाचर क्षण मात्र में कट कट करके गिर गए तमाम निशाचर मर गए कुंभकर्ण ने देखा कि हमारे सामने होते हुए देखते देखते कितने निशाचर क्षण मात्र मर, मर गए तो कुंभकर्ण को क्रोध आया तो कुंभकर्ण मन दीख विचारी तो कुंभकर्ण ने अपने मन में विचार किया कि हत क्षण माज धारी कि हमारे रहते हुए क्षण मात्र में इतनी बड़ी निशाचर सेना इन्होंने मार करके गिरा दी तो अब जब ये घटना देखी तो उसको कुंभकर्ण अहंकार रूप तो है ही है तो उसका अहंकार जागा प्रबल हुआ और वो कहने लगा अच्छा अभी देखो तो हम ठीक करते हैं हम्म, तो भाति क्रुद्ध महाबल वीरा बड़ा क्रोध किया उसने और बड़ा बलवीर बलवान भी है अहंकार कोई कम बलवान थोड़ा होता है अहंकार अगर साधारण हो तो, तो कोई भी उसे काट छाट कर खत्म कर दे समाप्त कर दे इतना बलवान होता है कि ज्ञानियों के भी मन को हरण कर लेता है वो नहीं छूटता वो अहंकार रहता है तो भाति क्रुद्ध महाबल वीरा और की मृग नायक नाद गभीरा और उसने मृग नायक की तरह से नाद किया मृगनायक मैंने सिंह की तरह तो सिंहनाद किया गंभीर सिंहनाद गर्जना उसने बड़ी जोरों से मैंने गर्जना करके ये अपना बल दिखाया उसके गर्जना से जब जितनी तेज आवाज निकलती गर्जना होती उतनी बल का पता चलता है तो उसने बड़ी जोरों से गर्जना की और ललकारा मानो भगवान राम को कोप महीधर ले उपारी और बस उसने क्रोध करके महीधर मैंने पर्वत उसने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया इतना भारी शरीर है पर्वत उखाड़ लेना उसके लिए कुछ नहीं है और डारे जहाँ हमारे कटभट भारी और जहाँ <clears throat> बांदरों में बड़े बड़े योद्धा थे उनके ऊपर वो पर्वत फेंकने लगा उखाड़ उखाड़ करके माने इसके माने छोटे मोटे जो बानर हैं उनके ऊपर वो नहीं डालता बड़े बानरों पर डालता है इसके माने अहंकार जितने बड़े लोग होते हैं उनको ज्यादा अहंकार सताता है और जितने छोटे लोग होते हैं कमजोर होते हैं उनको अहंकार जो है उनके पास नहीं जाता वो तो वैसे ही हीन हाँ, अपने वैसे ही दांत दिखाते रहते हैं उनको अहंकार कहाँ से हम्म? अहंकार जो ज्यादा शक्तिशाली है शरीर से ज्यादा शक्त है पैसे से ज्यादा शक्ति है ज्ञान की ज्यादा शक्ति है तो देखते हाँ ये योद्धा है उसके ऊपर आक्रमण करेगा अहंकार उसके अंदर आए तो इसलिए ये डारे जहां मरकट भट भारी भारी भट मरकट जहाँ है उनके ऊपर वो पर्वत फेंकता है तो आवत दे के सहेले प्रभु भारे तो कहते भगवान ने देखा ये बड़े बड़े भारी पर्वत चले आ रहे हैं और ये बानरों के ऊपर आकर के डालना गिरेंगे आकर के और बानर मरेंगे तो भगवान ने जब देखा उन पर्वतों को आते हुए तो शरण काट रजम कई डारे तो भगवान ने बाण कही भगवान का सब खेल उन्होंने बाण मारे अब वो पर्वत भी सब टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े धूल के समान हो गए और धूल जैसी गिर पड़ी तो धूल गिरने में कोई मरता थोड़ा है धूल गई जाए ज्यादा मेला हो जाएगा शरीर उसका उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा तो उससे उसका कोई चोट वोट किसी को नहीं लगी <clears throat> वे सब बानर जीवित बने रहे तो इस प्रकार से बानरों की रक्षा रक्षा भगवान ने कर ली पुनः कहानी को भी रघुनायक इसके बाद भगवान ने फिर अपना <clears throat> ज्यादा शक्ति लगा करके उपयोग करके धनुष बाण पर संधान किया छाणे अति कराल बहुत सहायक और उसके बाद बड़े भयंकर बाण फिर भगवान ने छोड़े <clears throat> उसी कुंभकर्ण के ऊपर और तन महाप्रभ से निसर सर जाही भगवान के बाण आते हैं और उसके शरीर में प्रवेश करते हैं कुंभकर्ण के और निकल जाते हैं आरसे से पार हम्म। तब तो कहते हैं कैसे दिखाई देता है कि घन मांझ समाही आपने बादल तो देखे ही होंगे और बादल में बिजली भी चमकती देखी होगी तो देखो कैसे बिजली चमकती है और बादलों में लुप्त हो जाती बस ऐसे ही बाण भगवान के उसके मेघ के समान उसका विकराल शरीर उसमें बाण आता है चमचमाता हुआ एकदम से क्षण मात्र में शरीर में प्रविष्ट होकर के निकल जाता है <clears throat> और वो उसके शरीर ऊपर असर नहीं करता हम्म, वो वैसे ही वैसा बना रहता है तो सोनित सर्वत सोतन कार्य मरता नहीं इस प्रकार बाण में ऐसा नहीं कि एक बाण लगा हाथी में लगा गिर के मर गया ऐसा नहीं होता वो इतने बाण आते लग जाते हैं चले जाते हैं और खून जरूर निकलने लगता शरीर से तो उसके शरीर से खून निकलता तो भी कैसे दिखाई देता है तमाम बाण लगने जगह जगह शरीर में छेद हो गए <clears throat> और सब जगह खून निकल रहा है तो अब देखो एक उदाहरण बताते हैं कैसे जन कज्जल गेरू पनारे और समझ लो काजल का एक पर्वत विशाल पर्वत <clears throat> और उसमें पनारे बह रहे हैं काये के गेरू के पर्वतों पर कोई कोई पर्वतों के ऊपर गेरू होती है पानी बरसता है तो गेरू बह बह कोई चलती है तो वो सब वो पर्वत की जहाँ पानी बहता है वहां वहां सब गिरु लाल दिखाई देने लगते <coughs> वैसे ही साधारण पर्वत होते हैं इन पर्वतों के ऊपर पानी बरसता है ऊपर तो पानी बरस करके बहता है तो नाली ऐसी बहती दिखाई देती है लकीरें पर्वत के ऊपर दूर से देखो पर्वत पर तो लकीरें ऐसी इधर चली आ रही इधर चली आ रही इधर चली आ रही कोई मोटी है कोई पतली है इस प्रकार से उन्हीं से और बीच वो लकीरें जो है वहां पे पेड़ नहीं होते हैं वहाँ कंकड़ पत्थर ऐसे करके होते हैं बस उठते रहते हैं साफ रहता है तो वो पनारे कहलाते हैं कि पानी के पनारे बह रहे हैं पर्वत के ऊपर ऐसे मान लो काजल का पर्वत हो और उसमें ऐसे ही पनारे बने हो लेकिन उनमें जो बह करके आ रहा हो गेरू बह करके आ रहे हैं जैसे यहाँ <clears throat> मिर्जापुर में आप विंध्याचल में जब जाओ तो वहाँ ऊपर जहाँ पर अष्टभुजा वगैरह ऊपर चढ़ करके जाओ तो वहाँ एक तालाब है और तालाब के पास की जो जमीन है वो गेरू की है वहां से गेरू खोद खोद करके ले जाते हैं सब देश भर में सब जगह भेजी जाती है अब वहां जब पानी बसता है तो गेरू बहती है घुलती है पानी में और बहती है तो जितनी भी <clears throat> उससे आगे बह करके पानी जितना चलता है सब लाल लाल पानी बहता हुआ दिखाई देता है तो ऐसे ही कहते हैं बस उसके शरीर से जैसे कि खून क्या बह रहा है मैंने कज्जल के पर्वत पर इस प्रकार से गेरू के पनारे बह रहे हैं तो विकल्प लोग के भालू कपिधाए अब उनको बिहसा जमही निकट कपी आए अब बानवों ने क्या देखा कि अब इस समय कुंभकर्ण का शरीर छिन्न भिन्न हो रहा है और खूब खून बह रहा है और कुंभकर्ण अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है एक प्रकार से थोड़ा वो दुर्बल पड़ा है तो बानर लोग जो पहले भाग खड़े हुए थे वे सब भारत से इकट्ठे हुए और फिर कुंभकर्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसकी तरफ बढ़े हिम्मत आई तो एक होता जब एक पक्ष हारने लगता है तब दूसरा पक्ष ज्यादा शक्तिशाली होता है ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर कभी ये जीतते कभी वो जीतते तो विकल विलोक विकल विलोक तो है ना कुंभकर्ण को विकल देख करके भालू कभी धाये ये सब भालू और बानर सब जो है इनकी सेना उसके ऊपर आक्रमण कर दी बीहसा जब निकट कपी आए और जब ये बानर लोग भालू लोग पास आए तब उसने देखा कुंभकर्ण अच्छा ये जरा जरा से ये बानर ये सब हमसे लड़ने के लिए आए हंसा उनके उपहास किया उसने अरे तुम क्या लड़ोगे तुम्हारा क्या बल है इस प्रकार माने उनका उपहास किया इस पर बिहसा बिहसा माने प्रसन्न नहीं हुआ बिहसा माने उसका उपहास किया निंदा जैसे कि अरे तुम क्या युद्ध करोगे ऐसे मानो बोला उसने और फिर महानाद कर गर्जा कोटि कोटि कहे की जो पास बानर आ गए थे तो उसने फिर बड़ी जोर से गर्जना की और उनको बानर तमाम जितने उसके हाथ आमे उन साबकारों को पकड़ पकड़ के बारणों को क्या करता है वो कि मई पटकई गजराज एव जैसे हाथी जो सुन से उठा करके किसी जमीन में पटक दे ऐसे वो लेकर के जमीन पर उनको पटक देता है और शपथ करे दस शीश और रावण की जय जयकार बोलता है दशीष रावण उसी की जय जयकार बोलता है उधर के जितने पक्ष हैं क्योंकि रावण की तरफ से लड़ रहा है तो रावण की ही जय जयकार बोलता है हम्म। अब इसमें एक बात देखेंगे कि कुंभकर्ण आया जरूर उनके पास भगवान के सामने युद्ध कर रहा है और भगवान के बाण भी कुंभकर्ण के शरीर में लगे तो धीरे धीरे करके उसकी शक्ति कम होती जाती है वर्णन अगर देखेंगे तुलसीदास जी का सावधानी पूर्वक तो कुंभकर्ण की शक्ति किस प्रकार से क्षीण होती है आपको इनके शब्दावधि के बीच में मिल जाएगी सबसे पहले जब कुंभकर्ण आया जब भगवान राम युद्ध नहीं कर रहे थे तो बड़ा शक्तिशाली था और उस समय ऐसे गर्जा जैसे कि मेघ गर्जना करता तो मेघ की गर्जना जब होती है तब तो सैकड़ों मील तक सुनाई पड़ती है बड़ी दूर तक उसकी आकाश में मेघ की गर्जना हो रही है तो यहाँ सुनाई दी तो कानपुर में सुनाई देगी कि आगे नहीं सुनाई तो इधर भी पचास मील तक सुनाई देगी तो मैंने बड़ी जोर से मेघ के समान गर्जना मैंने बहुत जोर से गर्जा था लेकिन उसके बाद फिर जब भगवान राम को आते देखा और उनको युद्ध किया तब उसके बाद फिर गर्जा तो कैसे गर्जा सिंहनाथ की तरह से गर्जा ऊपर कियो मृगनायक नांद मृग मृगनायक मैंने फिर सिंह की तरह गर्जा सिंह की तरह गर्जा जब भगवान राम को उसने सामने देखा तो देख करके थोड़ा सहमा हो और वो सिंह मेघनाथ के बजाय सिंहनाथ रह गया हम्म। शेर की धाड़ जो होगी तो जंगल में कितनी दूर तक जाएगी इतनी दूर तक थोड़ी जाएगी इतनी मेघ की जाती है तो उसकी माने कम शक्ति को बोला और जब भगवान ने उसके ऊपर बाण चलाए शरीर छिन्न भिन्न होने लगा पनारे बहने लगे उसके खून के तब उसका शरीर और दुर्बल पड़ा तो सिंह से दुर्बल कौन हाथी है हाँ, अब हाथी रह गया हाथी रह गया तो अभी हाथी का बड़ा भारी शरीर उसकी बड़ी शक्ति होती है लेकिन अब जो गर्जा तो महानाद कर गर्जा है? हाँ, तो महानाद गर्जा के मैंने सिंह की तरह नहीं गजराज एवं माने हाथियों में बड़ा हाथी कोई विशाल हाथी हो इस तरह से उसने गर्जना की और बानरों को उठा उठा के पटका तो देखो अब ये सब जितना ये कवि लोग लेखक लोगों की बुद्धि कहाँ तक जाती है क्या क्या विचार करते रहते हैं <clears throat> उसको उसकी था लो मैंने बार बार उसको पढ़ो विचार करो तो आपको जितनी विचार करोगे उतनी गहराई मिलेगी उसमें उसमें उतने ही कारण ढूंढे मिलेंगे और नहीं तो ऊपर से देखो तो काला अक्षर सब बराबर हम्म? उसमें काले काले अक्षर सब एक बराबर है उनमें कार हम्म। इसलिए कुंभकर्ण को देखो इस प्रकार से युद्ध कर रहा है कुंभकर्ण युद्ध करता है आगे की कथा उससे देखो युद्ध कैसे चलता है भागे भालु बलि मुख जूठा भक बिलोक जिम मेघ बरूठा चले भाग कपि भालु भमानी निकल पुकारत आरत बानी यह निश्चय दुकाल समय आई आप कुल देश पर नचारी व्यापारी धर राम खरारी पाई पाई प्रतार तिहारी करुण बचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना राम सेन निज पाछे डाली सर्वशाली परंतु धनुष सर्वसत तीर हरिये समाने लागत सरदावास रस भरा तिलक तो भुजा काटे धावा पाम पाऊ गिरधारी भुजा काटे मई पारे काटे भुजा सो खल कैसा पक्षी मंदर गिर जैसा हमारे जनन सिद्ध सुर का हे पुकारे जमीन पर पटकने लगा तो तमाम तमाम दानों उनको सबको इकट्ठा ले लेकर के दोनों हाथ से तमाम लोगों को जमीन पर पटक दिया तो फिर बारह भालुओं को लगा कि हमारा बल इसके साथ चलेगा नहीं तो लोग भागने लगे भागे भालू बली मुख जूठा बली मुख माने दानव समूह ये सब मूठ बने समूह ये सब दानव समूह के समूह दानव इकट्ठे इकट्ठे भाग खड़े हुए और जग लोग जिन्होंने एक मरी था और जैसे बक मैंने भेड़िया जैसे भेड़िया आ गए तो भेड़े जाए सब भेड़े जैसे झुंड की झुंड भाग खड़ी हो ऐसे वो भाग खड़े हो तो कुंभकर्ण तो हो गया भेड़िए की तरह और ये सब जितने बानर हैं भाग हैं सब भेड़ों की तरह भाग खड़े अब भेड़े जैसे मिली है उनको कोई हिंसा उनको सामर्थ्य नहीं है इन सब जंतुओं के सामने सामने खाए उनको तो भाग खड़ा होना ही है इसी प्रकार से बानर और भाग तो समय इतना शक्तिहीन है कि भेड़ जैसे बिल्कुल है भेड़ बकरियों जैसे लेकिन ये कुंभ का जो जैसे जग के समान भेड़ियों के समान है तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे कि तो अब कहा हाथी था कहा भेड़िया रह गया हाँ तो ऐसे करके उदाहरण जो देते जाते हैं तो एक से एक तरह उदाहरण नहीं देते कमजोर उदाहरण देते चले जाते हैं इस प्रकार से कुंभकर्ण है वो युद्ध कर रहा है जो बताते हैं तो चले भाग कति भालू भवानी और शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को तो यादव को तुलसीदास जी कहते हैं यादव को ये कैलाश पर्वत पर कथा चल रही है भगवान शंकर जी पार्वती जी को ये भगवान राम जी कथा सुना रहे हैं तो उनसे कहने लगे ये भगवान सुनो ये भाग और जितने बानर है उनसे भाग खड़े हुए जिकल पुकार पे और सब बड़े व्याकुल है आत्मानी मैंने आत्मा डर करके भयभीत होकर के जैसे रक्षा के लिए कोई उपहार करे कि बचाओ बचाओ ये आत्मदानी होता ऐसे चिल्लाते हुए ये बानर सब भालू भागे तो ये बानर भालू एक प्रकार से पराजित होकर के जैसे भाग रहे हैं तो शंकर जी भी उनका पार्वती जी का ध्यान उसी तरफ आकर्षित करते हैं तो देखो कुंभकर्ण की कितनी शक्ति है उसके सामने ग्यारह भाग तो कुछ टिकते ही नहीं मेरे मैंने ये जैसे कि रावण है मोह है ये अहंकार कुंभकरण है ये ऐसे भयंकर साचर है कि इन्होंने जितने भी प्राणी हैं सबके ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है उनमें मनुष्य भी हैं देवता भी हैं देवता है मनुष्य हैं और जितने पशु पक्षी इत्यादि हैं ये सब सबके ऊपर उसने अपना आधिपत्य इन लोगों ने जमा रखा है सबको ज्ञान में डाल रखा है लोग रावण है और अज्ञान है ये सब प्राणी अज्ञान में पड़े हुए हैं तो मैंने तीनों लोगों के ऊपर उसकी विजय है जब अज्ञान में होता है जीव तब वो उसमें अहंकार जागृत होता है जब तक अज्ञान हो तब अहंकार रहता है अहंकार है तो वो इस बात की सूचना है कि अभी व्यक्ति अज्ञान में है उसने चाहे इतना वेदांत पढ़ दिया हो चाहे इतना शास्त्र पढ़ दिए हो अपने आप को चाहे इतना ज्ञानी समझता हो लेकिन उसका ज्ञान उसका ज्ञान भी ज्ञान नहीं यदि अहंकार हो रहा है तो ज्ञान नहीं वो भी अज्ञान को ही बढ़ा रहा है बाकी कि ज्ञान की परिभाषा जो है वो तो बात में जो भी आरण कांड में कि ज्ञान मान जहाँ एक ना ही ज्ञान तो तब है जब अहंकार न रह जाए मैंने दोनों बातों को देखो अज्ञान है तो अहंकार भी तो यदि अहंकार नहीं है तो इसके माने ज्ञान हो गया तो ज्ञान का सूचक निरहंकार था यदि अज्ञान है तो इसके माने अहंकार प्रगट रूप में तो ज्ञान अज्ञान को परीक्षा करके जाना नहीं जा सकता कि ज्ञान है कि अज्ञान है तो उसमें भ्रांति होती रहती है अज्ञान में भी ज्ञान लगने लगता है व्यक्ति को परोक्ष ज्ञान हो गया शाब्दिक ज्ञान हो गया पहले अपने ज्ञान को भी जो कि शास्त्र ज्ञान है उसका भी व्याकरण के द्वारा उसका अर्थ जान लिया तो यह सब शास्त्राधिक ज्ञान है तत्व ज्ञान नहीं है जब तत्व ज्ञान होता है तो उसके सारा जगत मिथ्या दिखाई देने लगा और उसके साथ अहंकार भी मिथ्या हो जाता है तो उसके बाद अहंकार भी मिट गया इसलिए जब तक ज्ञान उदय नहीं होता तब तक अहंकार होता है ज्ञान उदय हुआ तो उसके साथ अहंकार भी मिटा ये शास्त्रों का स्पष्ट मत है इसलिए सबके ऊपर हम सब जितने जीव है वो जीव जब तक है तब तक अज्ञान में हो गई होगा अगर ज्ञान हो तो जीव कह रहे तब तक आत्मा स्वरूप हो जाए परमात्मा स्वरूप हो जाए उसमें सब जीव है वो अज्ञान में और जीव अज्ञान में तो वह अहंकार में भी उनका अहंकार उनका प्रकट रहता है तो ऐसे करके ये अहंकार में ये सारे जितने भी बानर इत्यादि हैं भगवान को छोड़ करके भगवान राम सामने युद्ध में है उनको छोड़ करके इस कुंभकर्ण का आधिपत्य सबके ऊपर इतनी सेना आ जाती है इसमें समस्त देवताओं के भी अवतार है शंकर जी के भी अवतार है ब्रह्मा जी के भी अवतार है इसमें गौरिंद्र के भी अवतार है सूर्य के भी अवतार सब देवताओं के अवतार है इसमें लेकिन कुंभकर्ण जो है उन सबको पराजित किए मैंने सब ने अहंकार उत्पन्न किए इनको भी सबको ज्ञान में घेरे हुए डाले हुए ये रखा इनकी शक्ति है बस एक भगवान के ऊपर उसका बल नहीं चलता वही भगवान ही जो वो हो उसको फिर मार पाते हैं उसकी सूचना देखने के लिए कहते हैं कि बारह भाग सब जितने हैं सब भागे और भाग करके भगवान की शान में पहुंचे आप पुकार करते हुए क्या पुकार करते हैं कैसे चिल्लाते हैं तो यह निश्चर दुकान समाई ये हम बारह भाग चिल्ला रहे हैं तो यह निश्चर दुकान समाए अरे ये निशाचर कुंभकर्ण क्या है ये तो बिल्कुल अकाल ही है जिसे अकाल खड़ा हो अकाल कहाँ पड़ता है पूरे देश नहीं अब चाहिए जैसे किसी देश में अकाल पड़ जाता है तो सूखा पड़ जाता है सूखा पड़ जाता है वहां कुछ पैदा नहीं होता सब भूखे मरने लगते हैं बिना पीला होने लगती है तो कहते हैं ये तो कुंभकर्ण तो हो गया अकाल और ये कपि देश हो गया जितने भी बानर है इन सबके ऊपर ये अकाल की तरह आ गया अपने बानरों के सफर विराश होने लगा ऐसे करके चिल्लाते हैं और ये अकाल दूर कैसे हो तो पानी बरसे सदाकाल करो तो इसलिए पानी बरसने के लिए क्या कहते हैं कृपा बारी भर राम खरारी बारी घर जो है भगवान की कृपा जो है वो पानी की बूंदे है और पारी घर जो है भगवान राम है खरारी खरार के मैंने खर के खर खरदूषण को भगवान ने मारा तो इसलिए खरारी कहते हैं निर्माता में राता लाता भी राह हो जाता है खड़ हाँ, तो खर को भी खर कहते हैं तो खर भी कह सकते हैं उनको अगर ज्यादा उसको शुद्ध कर रहे हैं की वजह से खार भी है भगवान खरा का पद करने वाले हैं तो ये जो जितना अहंकार रूपी कुंभकरण है ये खल है दुष्ट है तो ये मानव कहते हैं ये बात दुष्ट है ये निशाचर और आप इनका वध करने वाले भगवान हो आप कृपा करो इस वध को जानो क्या हुआ कि बंद जैसे पानी बरस गया आदमी का पानी बरस गया हो और अकाल दूर हो गया हो तो बानर सब जीवित हो जाए उस प्रकार से तो पाई पाई प्रणतारत हारी तो हे शरण में आने वाले के आपका हरण करने वाले भगवान पाई पाई हम आपकी शरण में हैं हमारी रक्षा करो पाई पाई हमारी रक्षा करो कौन कौन शरण में आने वाले की उनका कृपा करने वाले हैं पहले धारण में भगवान के शरण में जाते हैं कुंभकर्ण से मार खा करके और घायल होकर के पीड़ित होकर के भयभीत होकर के भगवान की शरण में जाते हैं अभी तक ये बानर लोग भालू लोग मैं भी उनको लगता था कि मध्य बड़ी हस्ती है मैं भी इनके से लड़ूंगा कुंभकर्ण से लड़ने का अहंकार ये बानर भालू रखते थे लेकिन उसमें जिसने कुंभकर्ण ने इनको सबको परास्त कर दिया आखिरकार जब ये भगवान की शरण में गए तब इनकी रक्षा हुई मैं भी ये कुंभकर्ण रूपी अहंकार इन बानवों को खाए जा रहा था साधारण वचन सुन के भगवान भगवान ने देखा कि बानर लोग पूरे कन्या के वचन बोल रहे हैं कन्या बोले दुखी हो रहे हैं आप हो रहे हैं ऐसे आकर के बोल रहे हैं कि वो जो वचन उनको सुने बानवों के भगवान ने भी क्या किया चले सुधार सरासन बाना तो भगवान ने फिर अपना धनुष संभाला और फिर उसके ऊपर स्थापना करने के लिए बाहर छोड़ने के लिए भगवान ने किया और बानवों के लिए क्या किया कि राम सेन ने जो पाछे घाली तो सब बानवों की सेना को भगवान ने कहा कि तुम पीछे रहो और आगे स्वयं कुंभकर्ण के पास जा करके भगवान युद्ध करने भगवान ने कहा कि तुम्हारा बस नहीं चला इनके ऊपर हाँ, तुम नहीं लड़ सकते जीत नहीं सकते और उनकी बानवों की रक्षा करने के लिए रक्षा तो करनी चाहिए कहा कि जो सफर सामने उससे हम जानेंगे तो हमारे पीछे रहो तो तुम बच रहे सब प्रभाकरण तुम्हारे ऊपर नहीं हो पाएगा तो ये रक्षा करने का तरीका था इसलिए भगवान ने सब मानवों को अपने पीछे कर दिया और सबसे आगे होकर के कुंभकर्ण की बिगड़ने लगी राम सिंह ने ये पांचवे भागी और चले सको को महाबलशाली और भगवान ने बड़ी शक्ति ले और ये दोनों महाबलशाली है आप देखोगे की वो भी कुंभकर्ण जो है तुम वो भी बड़ा महाबल बीरा है कि भात कुर्ग महाबल बीरा ऐसा तो कुंभकर्ण है अब भगवान भी चलते हैं तो चले सतो को महाबलशाली भगवान भी बड़े शक्तिशाली अब ये दो शक्तिशाली तो संयोग सृष्टि में संसार में दो शक्तिशाली है हम्म? एक और तो ये है अहंकार और दूसरे पर भगवान बस इन्हीं का जोड़ है एक दूसरे के ये सारे विषय के ऊपर ये अहंकार सबका छाया हुआ है सबको अपने बस में किए हुए है इतना महान शक्तिशाली है लेकिन जब का मुकाबला करने वाले संसार में तो कोई नहीं सबका आत्मा उसे अहंकार से क्योंकि सबके ऊपर अहंकार चाह हुआ है सबका वो मर्दन कर रहा है बस एक परमात्मा ही है जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है बस ही दो क्वेश्चन इसलिए जैसे ये मानव लोग भगवान की शरण में गए ऐसे ही भगवान की शरण में जाना चाहिए तब अहंकार पर रखा जब भगवान से प्रार्थना करे भगवान के सामने आप वचन बोले दीन वचन बोले और भगवान से कहे भगवान हमारी रक्षा करो रक्षा करो सब इस अहंकार से बचो हनुमान जी लंका जलाकर करके जब लौट करके आए किस इंसान जब पहुंचे वहां पर तो भगवान के पास ले गए सबको ये सब लोग गए सुग्रीव आदि है वो इनको हनुमान को ले गए भगवान के पास और उनसे कहा कि भगवान ये समाचार लाए हैं सीता जी का और उन्होंने ये ये सब कार्य किया वहाँ पता भी लगाया फिर पतले गए अपना तमाम सेना रावण की मारी और तमाम जो है श्रीलंका में आग भी लगा दी इस प्रकार से उनका सब प्रशंसा लोगों ने तो भगवान ने भी हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हनुमान तुमने तुम्हारा बहुत बड़ा काम किया और हम तुम्हारे बड़े ऋणी हैं और हम तुम्हारा तुम्हारा ऋण हम कैसे उठा पाएंगे हम कैसे तो ये क्या कर सकते हैं तो ऐसे भगवान जब बोलने लगे हनुमान जी को तो हनुमान सबको नया सब देखते हुए कि ऐसा कि हनुमान ऐसी अवस्था में जब भगवान प्रशंसा करने लगे तो अहंकार को जागृत होने देर नहीं लगती तुरंत आंख निकल लेता तो अहंकार तो हनुमान जी को दिखाई दिया कि बस अहंकार आने वाला है अब भगवान प्रशंसा करें फिर भी अहंकार आ रहा तो हनुमान जी ने जैसा देखा कि अहंकार आ रहा है जैसे देख लिया पर देखो सूक्ष्म बुद्धि के लोग हनुमान जैसे अपने तो धर्म धारण स्वर्ण फैलाए दो ऐसे जो है वो हनुमान जी है वो ज्ञान निधान भी है तो जिनका की ज्ञान है ज्ञान की दृष्टि वो देख लेते हैं कि अहंकार बाकी को नहीं दिखाई देता जो ज्ञानहीन है अज्ञान है उनके हृदय की आंखें बंद है उनके हृदय में अहंकार विनाश <clears throat> लीला करता रहता लेकिन अहंकार दिखाई नहीं देता अहंकार से पीड़ित भी रहते हैं तो उन्हें अहंकार नहीं दिखाई देता इसलिए जब ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न होती है हनुमान जी की तरह तब दिखाई दिया देखो अहंकार आ रहा तो हनुमान जी ने घंटा किया कि भगवान के चरणों में तो आप लोग रहे और प्राय प्राय हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो अब सब देखा कि हनुमान जी भगवान के चरणों में रक्षा करो रक्षा करो क्यों बोल रहे कि वैसे तो सबको बड़े से बड़े काम कर सकते हैं लेकिन फिर अहंकार को क्या करेंगे कि आएगा तो सबको चले जाएंगे तो भगवान ही बता सकते हैं तो जगह शास्त्र में जगह जगह इस बात को दिखाया गया कि अज्ञान कैसे जीवन की समस्या भीषण समस्या है फंडामेंटल प्रॉब्लम अज्ञान है अहंकार है यही है लेकिन ये कैसे दिखाए गए जबकि व्यक्ति को ज्ञान जागृत हो सत्संग हो भगवान की कृपा हो शास्त्र अध्ययन करे श्रवण करे हृदय के नेत्र खुले तब ये समस्याएं दिखाई देंगी प्रॉब्लम जीवन में आती समस्याएं आती कैसे आती हैं तब देखो भगवान ने जब ये लोग उपाय उपाय करने लगे पाई पाई करने लगे तब भगवान ने उनकी सबकी रक्षा की और स्वयं को मतलब से युद्ध करते हैं कहीं जो धनुष सरस्वत संभाल है भगवान ने धनुष खींच करके